जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक दो मन से मुक्त होना ही मुक्ति है भाग दो मात्सु से लोग मिलने भी जाते तो भी वो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता था उसकी बड़ी ख्याति हो गई होगी लोग कहते होंगे परम साधक सिद्ध ही हो गया जाओ तो भी नजर नहीं उठाता देखता भी नहीं किसी की तरफ लेकिन वो भीतर ही अकड़ा होगा उसके गुरु एक दिन उसके झोपड़े पर गए जब गुरु को ये सब बातें पता चली होंगी और गुरु निरीक्षण करते रहे होंगे तो जाना जरूरी हो गया क्योंकि मासू बीमार था यही तो रोग है दूसरे पर ध्यान न देना ही तो रोग है अपने लिए ध्यान मांगना ही तो रोग है और ये मासू 24 घंटे जो कर रहा है वो कर क्या रहा है कर रहा है मन को साधने की कोशिश मन को साध के तुम सिद्ध हो जाओगे मन को साध के निश्चित ही तुम्हें कई तरह की शक्तियां मिल जाएंगी जिनको परा मनोवैज्ञानिक शक्तियां कहते तुम दूसरे का मन पढ़ लोगे हो सकता है अदृश्य से ताबीज निकाल दो हाथ से राह गिरा दो बीमार को छू दो और ठीक कर दो ये सब संभव है इसमें कुछ बहुत अड़चन नहीं अगर मन को ही किसी ने साधा है तो जैसे संसार में दौड़ने वाला अहिर्निश साधक संसारी भी साधक है क्योंकि वो भी दौड़ रहा है एक पैसा जो आदमी कमा रहा है वो 24 घंटे पैसे के संबंध में सोचता है उसकी साधना भी किसी से कम नहीं राम को सोचने वाला शायद कभी कभी भूल भी जाता हो पैसे को सोचने वाला कभी नहीं भूलता राम की माला जपने वाले की माला कभी कभी रुक भी जाती हो पैसे को जपने वाले की माला कभी नहीं रुकती सोते जागते उठते बैठते वो पैसे के संबंध में ही सोचता रहता है अहिर्निस चल रही है साधना फिर निश्चित ही अहिर्निस जब कोई धन की साधना करता है तो धन कमा लेता है अहिर्निस जो पद की साधना करता है वो पद कमा लेता है तुम जिसके पीछे दौड़ोगे आज नहीं कल तुम्हें मिल ही जाएगा यही तो दुर्भाग्य यहां दौड़ने वाले को चीजें मिल जाती उससे दौड़ने को और बल मिलता है फिर जो लोग मन को ही साधने जाते हैं आंख बंद करके उनको भी शक्तियां मिलती हैं वे और सूक्ष्म सिद्धियों के मालिक हो जाते हैं संसार की सिद्धियां स्थूल हैं मन की सिद्धियां सूक्ष्म पर दोनों ही सिद्धियां हैं और दोनों ही सिद्धियां बाहर हैं उनसे तुम सिद्ध ना हो जाओगे सिद्ध तो तुम तब होगे जब ना संसार की सिद्धियां न मन की सिद्धियां बल्कि तुम अपने स्वभाव में रत हो गए लीन हो गए तुम अपने स्वभाव में एक हो गए तुमने उस परम सत्य को पा लिया जो तुम्हारे भीतर छिपा है वो कोई सिद्धि नहीं ये बड़ा अजीब लगेगा जब तक तुम सिद्धियों के पीछे पागल हो तब तक सिद्ध ना हो पाओगे तब तक जानना अभी पहुंचे नहीं जिस दिन तुम किसी चीज के लिए पागल नहीं जिस दिन तुम कुछ भी चाह से नहीं भरे हो बस हो ऐसा क्षण जहां तुम्हारा होना पर्याप्त है जहां अब कोई मांग नहीं उठती जहां कोई कल की आकांक्षा नहीं जहां बीते की स्मृति नहीं है अनहुए की कामना नहीं है जहां क्षण पूरा है आप तक काम हो उस क्षण में तुम सिद्ध हो सिद्ध का मतलब बहुत सिद्धियों वाला पुरुष नहीं है सिद्ध का मतलब जिससे सिद्धि की सब दौड़ छीण हो गई जिसके लिए सब सिद्धियां बचकानी हो गई बच्चों का खिलौना हो गई गुरु को पता लगा मासु बीमार है और बीमार साधारण नहीं है क्रामिक 24 घंटे बीमार है मन को साध रहा है आज नहीं कल मन सिद्ध हो जाएगा तब बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि जब सिद्धि हाथ में आ जाती तो छोड़ना और मुश्किल हो जाता इसलिए गुरु का जाना जरूरी हो गया आश्रम इसलिए उपयोगी थे तुम अकेले में क्या कर रहे हो बड़ा कठिन कोई ऊपर से देखने वाला नहीं कोई तुमसे ज्यादा देखने वाला तुम्हारे पास नहीं तुमसे दूर देखने वाला तुम्हारे पास नहीं तुम्हारी नजर छोटी है संकीर्ण है तुम जो भी करोगे उससे खतरा मोल ले सकते हो और ये भी हो सकता है कि जिस स्थिति से परम सत्य का द्वार खुल जाता उसे तुम सस्ते में बेच दो छोटी सी सिद्धि लेकर घर आ जाओ उसके गुरु एक दिन उसके झोपड़े पर गए मासू ने उनकी ओर भी ध्यान नहीं दिया मासू कोई छोटा मोटा साधक नहीं था कौन आया कौन गया इससे मतलब ही नहीं गुरु भी आया तो मतलब नहीं अहंकार भारी रहा होगा बल्कि गुरु के आने से मासू ने समझा होगा स्थिति मेरी बन रही साधारण लोग ही नहीं आ रहे खुद गुरु को आना पड़ा इसी की तो प्रतीक्षा की होगी न मालूम कितने दिन तक कि कब गुरु को भी आना पड़ेगा आज नहीं कल आना ही पड़ेगा सारे संसार को जब सिद्धि मेरे हाथ में होगी तो गुरु भी आएगा और झुकेगा मासु प्रसन्न हुआ होगा बीमारियां बड़े जोर से पकड़ती हैं और गहरे में पकड़ती हैं उनकी बड़ी गहरी जड़ें शिष्य प्रतीक्षा करता है गुरु भी आए समझाता वो ऐसे ही है कि गुरु के आदर के लिए लेकिन भीतर अपने अहंकार को ही पोसता है उसने गुरु की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया वो गुरु को भी बता देना चाहता है मैं कोई छोटा मोटा साधक नहीं अब मैंने बाहर से सब ध्यान ही तोड़ दिया मैं तो सिर्फ भीतर ही रहता हूं अहेरनेस मेरी साधना चल रही जो आदमी सच में भीतर है वो तो एक पक्षी भी गीत गाएगा उस पर भी ध्यान देगा पानी का झरना बहेगा उसकी कल कल आवाज होगी उस पर भी ध्यान देगा हवाएं निकलेंगी वृक्षों से सरसराहट होगी उस पर भी ध्यान देगा क्योंकि सभी पग ध्वनिया परमात्मा की इसे तुम समझ लो ध्यान का मतलब किसी एक चीज पर ध्यान का लगा देना नहीं कि और सब चीजों से तुम्हारा ध्यान वंचित हो जाए ध्यान का मतलब जागरण ताकि तुम जागे रहो और सब जो चारों तरफ घट रहा है जो विराट लीला हो रही उसमें से कुछ भी तुमसे चूक ना जाए यही मेडिटेशन और कंसंट्रेशन एकाग्रता और ध्यान का अंतर है एकाग्रता में तुम एक चीज पर रुक जाते हो और सब चीजों के प्रति बंद हो जाते हो ध्यान में तुम सभी चीजों के प्रति खुल जाते हो एकाग्रता ऐसी है कि तुमने अपने घर के सब द्वार दरवाजे बंद कर दिए और सिर्फ दीवार में एक छेद कर लिया बस उसी में से तुम देखते हो और ध्यान ऐसा है कि तुमने सब द्वार दरवाजे ही नहीं खोल दिए तुमने सब दीवारें हटा दी तुम खुले आकाश के नीचे खड़े हो गए ध्यान तुम्हारे जागा हुआ भाव फिर जो भी घटता है चारों ओर एक पक्षी गीत गाता है एक कुत्ता भौंकता है एक बच्चा रोता है कोई हंसता है हवा की आवाज होती है आकाश में बादल गड़गड़ाते वर्षा होती सब तुम्हें सुनाई पड़ता है और इस सब के सुनने से तुम्हें कोई विघ्न नहीं होता कोई बाधा नहीं होती विघ्न बाधा तो उसकी होती जो एकाग्रता साध रहा है उसको बड़ी तकलीफ होती एकाग्रता साधने वाले की बड़ी मुसीबत है सारा संसार उसका दुश्मन मालूम होता घर में एक आध आदमी एकाग्रता सामने लगे बड़ी मुसीबत बच्चा रो नहीं सकता बच्चा खेल नहीं सकता पत्नी जोर से बात नहीं कर सकती आवाज बर्तन की नहीं हो सकती लेकिन तुम संसार को मुर्दा करने में लगे तुम्हारी एकाग्रता क्या संसार बिल्कुल मर जाए तब होगी तुम्हारी एकाग्रता परिस्थिति पर निर्भर जरा सी अड़चन होती है और ध्यान कहता है कि बस बाधा पड़ गई जिनको हम इस तरह के ध्यानी कहते हैं वो अक्सर क्रोधी हो जाते क्योंकि उनको हर बात में क्रोध आता हर चीज से बाधा पड़ती क्यों हंसे क्यों रोए क्यों आवाज की ज्ञानी ध्यानी क्रोधी होगा हमने दुर्वासा पैदा किए हैं इसी तरह के ध्यानियों से उनके क्रोध का अंत नहीं जैसे उनका सारा ध्यान क्रोध है जब भी तुम एकाग्रता साधोगे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर क्रोध उठना शुरू हुआ क्योंकि एकाग्रता एक तरह का संघर्ष है संघर्ष से क्रोध पैदा होता है एकाग्रता एक तरह की जबरदस्ती मन तो मुक्त रहना चाहता तुम बांधते हो एक तरफ लगाते हो तो तीन तरह की स्थितियां हैं एक तो मन की चंचल स्थिति है इधर से उधर भागता रहता है ये सामान्य सांसारिक आदमी चंचल है इसके विपरीत एकाग्रता है वो तथा कथित धार्मिक आदमी वो कहता चंचल ना होने देंगे बिल्कुल जमा देंगे मन को एक ही जगह रखेंगे टिका के चाहे कुछ भी हो जाए और इन दोनों से भिन्न वास्तविक धार्मिक व्यक्ति है वो कहता है मन ही चंचल होता है और मन ही एकाग्र होता है और मैं मन नहीं इसलिए न चंचलता की चिंता है मुझे न एकाग्रता की दोनों को छोड़ देता है दोनों का अभाव है उस अभाव में एक जागरूकता है जिसमें चंचलता जैसी गति है और एकाग्रता जैसा ठहराव है पर वो बड़ी अनूठी स्थिति है जिसमें एकाग्रता जैसी शांति है और चंचलता जैसी गत्यात्मकता है वो शांति मुर्दा नहीं है जीवंत है भीतर कोई प्रतिरोध नहीं है इसलिए कोई विघ्न नहीं होता बच्चा रोता है आवाज सुनाई पड़ती जैसे सुने घर में आवाज गूंजे फिर विलीन हो जाए ऐसा ही तुम एक सुने घर हो जाते हो कबीर ने कहा है सुने घर का पाहुना तब इस जगत तुम्हारे घर में आता है लेकिन सुने घर का पाहुना से घर में कोई मेहमान आता है तुम बिल्कुल सुने हो जो भी आए आए जाए न प्रतिरोध है न निमंत्रण न निषेध है न बुलावा है सांसारिक आदमी निमंत्रण देता है तथाकथित धार्मिक आदमी द्वार पर निषेध लगाता है कि भीतर प्रवेश मना वास्तविक धार्मिक आदमी सुने घर का पाहुना और सुना घर हो जाता है वो जिसको आना हो आए जिसको जाना हो जाए न वो किसी को बुलाने जाता न वो किसी का निषेध करता और तभी तो सब ठहर जाता है और फिर भी जीवित होता है तभी तो इस जगत का सबसे बड़ा विरोधाभास घटित होता है इस जगत की परम क्रांति घटती है कि तुम इतने जीवंत होते हो जैसे छोटा बच्चा तुम इतने जीवंत होते हो जैसे परम जीवन और तुम इतने शांत होते हो जैसे गहन मृत्यु यहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है एकाग्रता जैसी स्थिरता होती है और चंचलता जैसा कलकल प्रवाह होता है और प्रवाह और स्थिरता जहां दोनों एक साथ होती हैं वहां तुम मन के पार हो गए क्योंकि मन द्वंद है जहां तुमने दोनों से हट गए वहीं मन समाप्त हो जाता है मात्सु ने गुरु की ओर भी ध्यान नहीं दिया पर गुरु दिन भर वहीं बैठे रहे किस लिए वहां बैठे रहे होंगे और न केवल बैठे रहे बल्कि एक ईंट को पत्थर पर घिसते रहे अब कोई आदमी अगर जरा भी कंकड़ पत्थर घिसे तो तुम्हें बेचैनी हो जाएगी परेशानी हो जाएगी ईंट पूरी लेके पत्थर पर उसके सामने बैठ के घिसते रहे कई कारण रहे पहला तो ये वो देखना चाहते थे कितनी देर तक तू अहंकार को साधता है कितनी दूर तक तेरा प्रतिरोध टिकता है रेसिस्टेंस क्योंकि एक बात समझ लें प्रतिरोध थकाएगा जब भी तुम जबरदस्ती कुछ करोगे तो ज्यादा देर ना कर पाओगे एक सीमा होगी सिर्फ स्वभाव सदा हो सकता है जबरदस्ती थोड़ी बहुत देर हो सकती है क्योंकि तुम थक जाओगे इसलिए ध्यान रखना जिस चीज से भी तुम थक जाते हो समझ लेना कि उसे तुम जबरदस्ती कर रहे हो अगर प्रेम से थक जाते हो तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो अगर पत्नी से ऊब जाते हो तो तुम जबरदस्ती कुछ कर रहे हो दिखावा कर रहे हो अन्यथा प्रेम से कोई कैसे थकेगा प्रेम से तो और प्रसन्न होगा प्रेम से तो और ताजा होगा प्रेम से तो और निर्भर होगा थकान मिटेगी लेकिन पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठ के थकते हैं उगते परेशान होते मित्र एक दूसरे से थोड़ी देर बातचीत करके फिर परेशान होना शुरू हो जाते तुम्हें हर चीज परेशान करती इस जगत में तुम्हें सब तरफ ऊप दिखाई पड़ती क्या कारण क्योंकि हर चीज को तुम जबरदस्ती कर रहे हो तुम हर चीज को तनाव बना रहे हो तुम उसे सहजता से नहीं कर रहे हो तुम उतना ही नहीं कर रहे हो जितना भीतर से आ रहा है तुम अतिरेक कर रहे हो जब तुम प्रेम बताते हो तो तुम जरूरत से ज्यादा बताते हो जितना तुम्हारे भीतर से नहीं आ रहा अब तुम मुसीबत में पड़ोगे जब तुम मित्रता बताते हो तो तुम जरूरत से ज्यादा बताते हो जितनी भीतर से नहीं आ रही कितनी देर करोगे प्रतिरोध थकाएगा जबरदस्ती हैरान करेगी बेचैन करेगी ये गुरु भी बड़ा अद्भुत आदमी रहा वो ईंट पर ईंट को पत्थर पर घिसता रहा वो इस आदमी को थका रहा है क्योंकि ध्यानी को तुम थका नहीं सकते एकाग्र चित्त वाले को तुम थका दोगे वो आदमी भीतर भीतर उबल रहा होगा कि हद हो गई अब और कोई आदमी होता तो सिर खोल देता मगर ये गुरु है पहले सोचता होगा शायद मेरी परीक्षा ली जा रही फिर धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ता गया होगा फिर वो उबलने लगा होगा लगा हो हद हो गई एक सीमा होती है किसी बात की यह आदमी पागल हो गया है दिन भर गुरु वहीं बैठे रहे और ईट को पत्थर पर घिसते रहे यही तो हालत सभी गुरुओं की शिष्यों के सामने ईंट पर पत्थर को या पत्थर पे ईंट को घिसते रहते मासू से अंतता न रहा गया और उसने गुरु से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं अंततः न रहा गया पहले ही क्षण रहना मुश्किल पड़ा था लेकिन अहंकार खींचता है खींचता है खींचता जब तक बने तब तक खींचता जाता है मुल्ला नसुद्दीन ने अदालत में दरखास्त दी थी तलाक के लिए हैरान हुआ मजिस्ट्रेट उसने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी नसरुद्दीन नसरुद्दीन ने कहा नब्बे वर्ष अब शादी हुए कितना समय हुआ उसने कहा सत्तर वर्ष उस मजिस्ट्रेट ने कहा अब किस लिए तलाक नसरुद्दीन ने कहा इनफ इज इनफ अब बहुत हो गया और अब नहीं सहा जाता अब पर्याप्त झेल लिया अब एक और रत्ती भर खींचने की हिम्मत नहीं अंततः उससे न रहा गया और उसने गुरु से पूछा आप ये क्या कर रहे हैं गुरु ने कहा ईंट का दर्पण बनाना चाहता हूं मासू ने कहा ईंट का दर्पण पागल हुए हैं क्या जीवन भर घिसते रहने से भी दर्पण नहीं बनेगा यह सुनकर गुरु हंसने लगे और उन्होंने कहा मासु तब तुम क्या कर रहे हो ईट दर्पण नहीं बनेगी तो क्या मन दर्पण बन सकता है और मन का घिसना ही तो साधना है तुम करते क्या हो साधना में राम राम जपो माला फेरो क्या करते हो मन को घिस रहे हो ईट को पत्थर पे घिस रहे हो शोरगुल बहुत होगा शायद दूसरे समझे में कि अहिर्नित साधना चल रही अहंकार को भी रस आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन कर क्या रहे हो तुम और मैं तुमसे कहता हूं कि ईंट को ठीक से घिसने पर शायद दर्पण बन भी जाए क्योंकि जिनको तुम दर्पण कहते हो वो हैं क्या वो रेत का ही रूपांतरण है तो मैं मासू के गुरु से आगे एक बात तुमसे कहता हूं कि ये हो भी सकता है कि ईंट को ठीक से घिसने से दर्पण बन भी जाए लेकिन मन को कितना ही घिसो दर्पण नहीं बन सकता और जब तक तुम दर्पण न बन जाओ तब तक सत्य का प्रतिफलन कैसे होगा मन को घिसते घिसते मन सूक्ष्म होता जाएगा और जितना सूक्ष्म होता है उतना सिद्धिपूर्ण होता जाएगा उतनी अनंत शक्तियां तुम्हारे भीतर जागने लगेंगी और हर शक्ति तुम्हारे अहंकार को भरेगी इसलिए सन्यासियों जैसा अहंकार सन्यासी में नहीं होता महात्माओं जैसी अकड़ पापियों में नहीं होती क्योंकि पापी अकड़े भी क्या उसके पास है भी क्या अकड़ने को महात्मा के पास कुछ है अकड़ने का कारण उसकी अकड़ अकारण नहीं और जब कारण होता है अकड़ने का तो अकड़ को मिटाना मुश्किल हो जाता है पतंजलि ने एक पूरा अध्याय लिखा है विभूति पात्र अपने योग सूत्र में कि कैसी कैसी सिद्धियां पैदा हो सकती हैं अगर आदमी मन को घिसता ही रहे और इसलिए नहीं लिखा है वो विभूति पात कि तुम मन को घिस घिस के उन सिद्धियों को पालो वो सिर्फ चेतावनी वार्निंग के लिए लिखा है कि ये ये सिद्धियां पैदा हो सकती हैं मगर इनसे बचना क्योंकि इनमें अगर तुम भटे तो भटके तो परमात्मा से बच जाओगे ये आखिरी प्रलोभन ये अंतिम पड़ाव है जहां से भटकन हो सकती है इसके बाद फिर कोई भटकन नहीं हो सकती और जैसे जैसे तुम सूक्ष्म होते जाते हो वैसे वैसे बुलावा तीव्र होता जाता है और तुम्हारा मन और तुम्हारा अहंकार कहेगा जरा प्रयोग करके देख लो और हर्जा क्या है मन कई बातें समझाएगा कि बीमारों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं ये तो सेवा है इससे जरा सावधान रहना क्योंकि मन के तर्क बड़े अद्भुत हैं वो कहेगा ये सेवा है इसमें कुछ हर्ज नहीं ये तो धर्म है और अगर तुम्हारे हाथ से ताबीज और राख प्रकट हो जाए तो सैकड़ों लोगों की आस्था जगेगी और लोगों को आस्था जगाना तो अच्छाकारी है कल्याणकारी है मंगलदायी है लेकिन इन सब बातों में मत पड़ना भीतर गौर से देखना कि मन ये तो कारण जो बता रहा है ये बहाने लेकिन मन अहंकार को निर्मित करेगा भीतर से मेरे पास लोग आते हैं जैसे ही ध्यान में उनकी थोड़ी गति होती है उपद्रव शुरू होता है तो वो कहते हैं ऐसा करने से ऐसा हो गया एक युवक मेरे पास आया सच में हिम्मतवर युवक है और बड़े साहस से उसने ध्यान के प्रयोग किए वो मेरे पास आया वो एक यात्रा पर गया था और बस में बैठा था कुछ करने को नहीं था तो वो जो मंत्र की साधना कर रहा था वो मंत्र का रटन करता रहा वो 24 घंटे जब भी उसे याद आता तो रटन करता था सामने एक आदमी बैठा था अचानक रटन करते करते उसे लगा कि कहीं ये आदमी गिर ना जाए गाड़ी पहाड़ चढ़ रही थी और बस धक्के लग रहे थे उसे ऐसा ख्याल आया कहीं आदमी गिर ना जाए जैसे उसे ख्याल आया वो आदमी धड़ाम से गिर गया नीचे वो थोड़ा चौंका और उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सोचने से गिर गया हो यह सिर्फ संयोग है तो उसने दूसरे आदमी पर प्रयोग करके देखा जैसे उसने सोचा कि ये गिर ना जाए वो दूसरा आदमी लुढ़क गया तब वो बहुत घबरा गया तब उसकी घबराहट स्वाभाविक हो गई और उसने कहा कि अब संयोग नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह भी हो सकता है कि संयोग हो एक प्रयोग और करके देख लू तो उसने एक तीसरे आदमी पर जो बिल्कुल सदा बदा बैठा था जिसके गिरने की कोई संभावना नहीं थी उसको सोचा और वो आदमी भी गिर गया वो यात्रा में बीच से उतर के भागा हुआ मेरे पास आया और उसने कहा कि तो बड़ा अब मैं क्या करूं अगर आदमी गिर सकता है तो बात साफ है कि कुछ और भी हो सकता है कोई बीमार हो और मैं कह दूं कि ठीक हो जाए तो आदमी वो युवक मुझसे कहने लगा ये तो जनता की बड़ी सेवा होगी इसमें कोई हर्ज तो नहीं इससे तो दूसरों को लाभ होगा मैंने उससे पूछा कि जब ये तीन आदमी गिरे तब तेरे भीतर क्या हुआ वो तू मुझे कह तुझे तो भीतर कैसा रस आया मैं कहा कि लगा कि मैं कोई सिद्धि को उपलब्ध हो रहा हूं और अब दूर नहीं है रास्ता रास्ता करीब आ गया मंजिल के बस मैंने कहा असली बात वो है सेवा और दूसरे को ठीक करने की तू चिंता मत कर जब तक तू है तब तक तू जो भी करेगा वो सेवा नहीं हो सकती जिस दिन तू मिट जाए उस दिन सेवा मैं के रहते कैसे सेवा होगी मैं सिर्फ सिर्फ शोषण कर सकता है सेवा नहीं कर सकता मैं सिर्फ चूस सकता है दूसरे को दूसरे को सहारा नहीं दे सकता सहारे के नाम पर भी चूसेगा तो जैसे जैसे व्यक्ति साधना में लगता है आखिरी घड़ियों में मन की सूक्ष्म शक्तियां जागनी शुरू होती हैं विभूति पैदा होती लेकिन वो विभूति सिद्धि नहीं है वो मंजिल नहीं वो पड़ाव भी नहीं उसकी तरफ उपेक्षा से देखते हुए गुजर जाना इसलिए पतंजलि ने विभूति पाद लिखा पूरा एक अध्याय सिर्फ सावधानी के लिए ये मात्सु भी सिद्धि के करीब पहुंच रहा था इसलिए गुरु को जाना पड़ा ये करीब आ गया था जहां से इसके हाथ में कुंजियां आ जाएंगी और उन कुंजियों को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा इसलिए गुरु ने कहा कि न तो ईंट दर्पण बनेगी घिसने से और न मन दर्पण बन सकता है तू ये घिसना बंद कर ये बड़ा कठिन मामला है पहले गुरु कहता है साधना कर और फिर एक घड़ी आती है जहां वो कहता है आप साधना छोड़ समय रहते साधना न छोड़ दी गई तो तुम साधना से जकड़ जाओगे पहले तो चिकित्सक दवा देता है बीमारी को हटाने की और फिर समय रहते तुमसे कहता है आप बीमारी हट गई अब दवा छोड़ो नहीं तो बीमारी की जगह दवा ले सकती और अगर बीमारी की जगह दवा बैठ गई तो वो नई बीमारी हो गई जो पुराने से भी खतरनाक सिद्ध हो सकती तुम्हें बीमारियों ने ही थोड़ी पकड़ा है बहुत सी दवाइयों ने भी पकड़ा है तुम्हें वे ही कांटे थोड़ी चुभ रहे हैं जो रास्ते पर चलते लग गए हैं तुम्हें वे कांटे भी चुभ रहे हैं जिनसे तुमने इन कांटों को निकालने की कोशिश की है और जिस कांटे से तुम कांटे को निकालते हो उस कांटे को अगर तुम उसी घाव में रख लेते हो कि ये बड़ा अच्छा कांटा है इसने सहायता दी तो ये कांटा भी उतना ही खतरनाक है क्योंकि कांटे सब समान है तो गुरु को ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारा पहला कांटा निकल आए और दूसरा कांटा उस जगह में बैठ जाए उसके पहले तुम्हें चौंका देना जरूरी मासू खतरनाक जगह के करीब था थोड़ी देर और फिर मास्टर को लौटाना मुश्किल हो जाता इसलिए गुरु की जरूरत तो पड़ती है साधना की शुरुआत में और गुरु की जरूरत पड़ती है साधना के ठीक पूरे होने की थोड़ी देर पहले इसके पहले की बीमारी हटे और औषधि पकड़े गुरु को औषधि भी छोड़वा देने की कोशिश करनी पड़ती है वो तुमसे सभी छीन लेगा तुम्हारा संसार भी और तुम्हारी साधना भी वो तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देगा जहां पकड़ने को कुछ भी नहीं इसलिए मासु के गुरु ने कहा कि देख न ईंट घिसने से दर्पण बनेगी और न मन घिसने से दर्पण बनेगा तो ये घिसाई बंद कर अब तू रुक जा संसार तू छोड़ चुका है अब ये साधना भी छोड़ दे कहानी यहां पूरी हो जाती मासू ने क्या किया मासू ने जरूर गुरु की बात सुन ली होगी क्योंकि मासू खुद अपनी हैसियत से महागुरु हो गया था मासू खुद बहुत बड़ा ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हुआ उसने गुरु की बात सुन ली होगी गुरु कभी कभी दुश्मन जैसा लगेगा अच्छा लगेगा जब तुम्हारे रोग छीन रहा है बुरा लगेगा जब तुम्हारी औषधि छीनेगा अच्छा लगेगा जब तुम्हें तुम्हारी चिंताएं छीन रहा है बुरा लगेगा जब तुम्हारी शांति छीनेगा इसी तरह समझ लेना क्योंकि चिंताओं की जगह अगर तुमने शांति को पकड़ लिया तो कितनी देर तुम शांत रहोगे जल्दी ही शांति एक नई चिंता बन जाएगी तब तुम उसी को संभाले फिरोगे वो एक कांच का बर्तन हो जाएगी जिसको कि संभाल संभाल के चलना है कहीं टूट ना जाए वो एक बोझ होगी पहले तुम्हारे दुख छीनेगा फिर तुम्हारा सुख भी छीनेगा क्योंकि दुख अकेले छीन लेने से काम न चलेगा अगर सुख रह गए तो उन्हीं में दुख के बीच छिपे हैं देर अबेर फिर अंकुर फूट आएंगे गुरु तुमसे सभी कुछ छीन लेगा तुम्हारा सुख भी तुम्हारा दुख भी वो तुम्हें भर छोड़ेगा तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देगा और एक बार भी तुम अकेले छूट जाओ और उस भीतर की महिमा को जान लो जहां न सुख है न दुख न शांति अशांति न संसार न मोक्ष न पदार्थ न परमात्मा जहां तुम अपनी निजता में अकेले हो एक क्षण को भी वो झलक आ जाए बस फिर गुरु की कोई जरूरत न रही तुम स्वयं गुरु हो गए हो सारी चेष्टा गुरु की तुमसे छीनते चले जाने की और तुम्हारी कठिनाई ये है कि तुम बहुत हैरान होोगे क्योंकि कल गुरु ने तो तुम्हें दिया था ये कि चलो ये साधना करो तुम उससे झगड़ने को खड़े हो जाओगे कब तुम्हें छीनने की बात करते तो दी क्यों थी जरूरत थी कुछ और छीनना था तुम्हारे हाथ खाली रखने का तुम्हारा अभ्यास ना था धीरे धीरे धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हें दिया जाएगा और स्थूल छीन लिया जाएगा आखिर में सूक्ष्म भी छीन लिया जाएगा ऐसा हुआ रंझाई अपने गुरु के पास था उसने बड़ी गहरी साधना की वो शून्य को उपलब्ध हो गया शून्य को तो शास्त्रों में परम उपलब्धि कहा है उसके आगे कुछ और नहीं उसके आगे कुछ और हो भी क्या सकता है सभी कुछ खो गया वो नाचता आनंद मगन गुरु के घर गया उसने चरणों पर सिर रखे और उसने कहा कि शून्य घटित हो गया गुरु ने कहा शून्य को भी छोड़ गया नहीं तो ये शून्य भी काफी बीज है फिर पूरा संसार निकल आया शून्य को छोड़ के आ क्या मतलब है तुम हाथ में धन को पकड़े थे मुट्ठी बंद थी धन छोड़ दिया ध्यान को पकड़ लिया मुट्ठी अब भी बंद ध्यान छोड़ दिया शून्य आ गया मुट्ठी अब भी बंद शून्य को पकड़ लिया और सारी चेष्टा इस बात की कि मुट्ठी खुल जाए पकड़ ना रहे क्या पकड़े हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है पकड़े हो यही उलझन है ना पकड़ो अनक्लिंगिंग कुछ भी ना पकड़ो मुट्ठी बिल्कुल खाली हो जाए तो रंझाई के गुरु ने कहा कि जाप तू ये शून्य भी छोड़ा जिस दिन शून्य छूट जाए उस दिन आना फिर शून्य छूटा वर्षों लग गए शून्य को छूटने में फिर आया रंझाई गुरु के द्वार पर खड़ा हुआ लेकिन अब बात बिल्कुल बदल गई थी पहली दफा आया था तब आनंद मग्न था अब न दुख था न सुख न उदासी थी न मग्नता न इस तरफ न उस तरफ अब कोई भाव दशा न थी अब रिंझाई बिल्कुल अकेला था अब रिंझाई कुछ भी लेके नहीं आया था खाली हाथ था वो बाहर दरवाजे पर खड़ा था कहते हैं गुरु खुद उठ के बाहर आया और उसने कहा रिंझाई अब ठीक है अब बात बनी आज कुछ लेके आए देसाई ने कहा कि अब कुछ लेने को नहीं बचा अब मैं खुद अब कुछ लेके नहीं आया इसलिए बाहर खड़ा हूं कि भीतर अब क्या जाऊं कुछ लेके नहीं आया हूं क्या कहूंगा आप पूछेंगे तो कि क्या लेके आया कुछ लेके नहीं आया बिल्कुल अकेला होके आया हूं रंझाई के गुरु ने कहा बस यही लाने योग्य धीरे धीरे जैसे प्याज के छिलकों को हम निकालते जाते हैं सब गुरु निकालता जाता है एक दिन शून्य बचता है पुरानी आदत के अनुसार हम शून्य को पकड़ लेते क्योंकि बिना पकड़े हमसे नहीं रहा जाता फिर गुरु शून्य भी छीन लेता है तुम अकेले हो जाओ बस यही परम धन्यता है और मन तुम्हें अकेले ना होना देगा क्योंकि मन कुछ भी पकड़ने की आदत है इसलिए मन को घिसने से मुक्ति नहीं मिलती मन से मुक्त होना ही मुक्ति मन को शुद्ध नहीं करना मन कितना ही शुद्ध हो जाए मन ही रहेगा जहर को शुद्ध नहीं करना है जहर कितना ही शुद्ध हो जाए जहर ही रहेगा और खतरनाक हो जाएगा मन के पार जाना है अतिक्रमण करना है अगर समस्या हो सके तो परम शुभ अगर ये बात दिखाई पड़ जाए तो कुछ करने को नहीं लेकिन धोखा मत देना कि दिखाई पड़ गई अब कुछ करने को नहीं और जो तुम करते हो वो करते चले जाओ वैसे लोग भी हैं जो धोखा दे लेते हैं सोचेंगे जब कुछ करने को नहीं तो ठीक फिर हम जो कर रहे थे शराब पी रहे थे जुआ खेल रहे थे फिर वही करते जाएं वो तो बहाना है क्योंकि अगर कुछ करने को नहीं दिखाई पड़ जाए तो तुम बिल्कुल रूपांतरित हो जाओगे आविर्भाव होगा तुम्हारा नए का तुम वही नहीं रहोगे जो तुम थे ये बोध तुम्हें बिल्कुल बदल देगा पुराना मरेगा नया जन्मेगा लेकिन अगर तुम्हें लगे कि नहीं समझ इतनी गहरी नहीं तो ईमानदारी रखना तो थोड़ी साधना करनी जरूरी होगी उस साधना से तुम्हें समझ मिलेगी ऐसा नहीं है साधना से केवल तुम्हारी पुरानी आदतें टूटेंगी जिस दिन पुरानी आदत टूट जाएंगी उस दिन समझ आसान हो जाएगी ध्यान की विधियां परमात्मा तक नहीं ले जाती ध्यान की विधियां केवल तुम्हारी बाधाओं को नष्ट करती परमात्मा तक तो तुम पहुंचे ही हुए हो सिर्फ तुम्हारी बाधाओं को तोड़ देती अगर तुम देख सको तो आज भी बाधाओं के पार तुम परमात्मा हो न देख सको तो थोड़ी बाधाओं को तोड़ना जरूरी है कांच पर धूल जम गई उसको अलग करना जरूरी है लेकिन ये धूल को अलग करना कहीं तुम्हारी जीवन की चर्या ना बन जाए और ध्यान करना कहीं तुम्हारी जीवन की चर्या ना बन जाए ध्यान वहां तक करना जहां तक बाधाएं ना हट जाएं जिस दिन बाधाएं हट जाएं उस दिन ध्यान भी बाधा है उस दिन ध्यान को भी ऐसे ही छोड़ देना जैसा और सब बाधाओं को छोड़ दिया वही घड़ी आ गई थी मासू के जीवन में जहां अब ध्यान के अतिरिक्त तो और कोई बाधा न थी इसलिए गुरु को जाना पड़ा ताकि वो ध्यान भी छोड़ दे और गुरु का ये कहना कि ईट घिसने से दर्पण न बनेगी न मन घिसने से दर्पण बनेगा पर्याप्त हुआ होगा जैसे गुरु ने ईट छोड़ के चला गया होगा मासू मन छोड़ के चला गया होगा इसलिए कहानी आगे कुछ नहीं कहती क्योंकि आगे जो है वो कहने योग्य नहीं कहा नहीं जा सकता पर इतिहास कहता है कि मासू बड़ा ज्ञानी हुआ अनेक लोग उसके शिष्य हुए अनेक लोगों ने उसके द्वार से भी परमात्मा को पाया और समाधि उपलब्ध की इसलिए मासू ने सुन लिया होगा काश तुम ठीक से सुन सको तो कुछ करना जरूरी नहीं अगर तुम्हारे कान ठीक से सुनने में समर्थ नहीं तो कुछ करना जरूरी है उससे सिर्फ कान ठीक हो जाएंगे तब तुम सुन पाओगे एक बात इस कथा से स्मरण रखना सब साधन अंततः बाधक हो जाते जिन सीढ़ियों से आदमी चढ़ते हैं अक्सर उन्हीं में उलझ जाते हैं और जो रास्ता मंजिल तक ले जाता है अगर तुम उसी रास्ते में उलझ गए तो वही तुमको मंजिल जाने से रोकने का कारण हो जाएगा रास्ते को भी छोड़ने की तैयारी रखना विधि को भी फेंक देने के लिए हिम्मत रखना अभी संसार छोड़ने की चेष्टा करते हो कल ध्यान योग को भी छोड़ना पड़ेगा इसको स्मरण रखना उनसे राग मत बना लेना अन्यथा वे ही तुम्हारे संसार हो जाएंगे और जहां राग है वहां मन जहां मन है वहां संसार है मन का अतिक्रमण मोक्ष है आज इतना ही